और ये मुमकिन नहीं है कि सारे के सारे अहले ईमान ही निकल जाएं सो उनके हर ग्रोह में से कुछ लोग क्यों नहीं निकले ताकि वो दीन की समझ हासिल करें और ताकि वो अपनी कौम को डराएं जब वो उनकी तरफ वापस जाएं ताकि वो बच जाएं